भूतम् प्रतिरूपो वरिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु नालिप्यते चाक्षुषैर्वाद्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाच्य एको वसी सर्वभूतान्तरात्मा एकम रूपम बहुधायती समात्मस्थम ये पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति तमात्मस्थम ये पश्यन्ति धीरा तेषाम् शान्ति शाश्वती नेतरेश शान्ति नजर से देखने पर आत्मा अनेक मालूम रही है ये मैं ये तू ये वो और इसी भेद क्रांति के कारण संसार में अहंकार होता है मैं सबसे बड़ा यह छोटा इनमें छोटा ये भी अहंकार ही है कई लोग समझते हैं कि जब हम अपने को छोटा समझते हैं तो अहंकार नहीं होता अपने को चीटी समझना भी अहंकार है और अपने को हाथी समझना भी अहंकार क्योंकि जो चीज यह के रूप में मालूम कर रही है चाहे शरीर हो चाहे कर्म हो चाहे भावना हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुसुप्ति हो चाहे समाधि हो ये हाई और यह गई जो चीज हमारी आंख के सामने यह बन के आती है और यह बन के फिर चली जाती है ये चीज मैं नहीं है और उस चीज को मैं मान बैठना ये अहंकार है अहंकार माने अहम करना इदम को अहम करना अनहम को अहम करना जो मैं नहीं है उसको मैं मानना इसी को बोलते हैं अहंकार संतो तो आए जाए तो माया है, है प्रतिपाल काल नहीं जाते ना कुछ गया ना आया उनको आवे जाए सो माया वो न जाने कहा से आता है यह हम के सामने खड़ा होता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है न जाने कहा चला जाता है ऐसे समझा कभी न आवे तो राग देश के बसीभूत होकर के मनुष्य पाप पूर्ण करता है और पाप पूर्ण के करने से फिर अपने को सुखी दुखी मानता है और फिर ये करने से सुख हुआ ये करने से दुख हुआ फिर राजदेश पैदा होगा इसी प्रकार ये अहम जो है ये संसार के चक्र में पड़ा हुआ है अपने को न जानने से अपने में परिच्छिन्न पने की भ्रांति हो गई परिच्छिन्न पने की भ्रांति से अपने को जो निगम है दृश्य है उसको अहम मान दिया और जब उसको अहम मान लिया तो जो अनुकूल है उसमें राग हुआ जो प्रतिकूल है उसमें द्वेष हुआ और जब राग द्वेष हुआ तो पाप करने लगे और पाप करने लगे तो सुख दुख भोगने लगे और सुख दुख भोगने लगे तो ज्यादा सुख भोगने के लिए स्वर्ग में और ज्यादा दुख भोगने के लिए नरक में जाने लगे और उस प्रकार ये संसार चक्र चल गया जिस अज्ञान या भ्रांति के कारण इस संसार चक्र की प्राप्ति हुई है उस अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है यदि तुमने ये जाना लोगों का स्तर होता है वो है ना हम जयदयाल जी का प्रसन्न होता था स्वर्गाश्रम में तो वहां जाते थे बहुत दिनों से तो किसी किसी दिन देश जी ये व्याख्यान देते कि गंगा जी को कितनी दूर पर जा करके लघुशंका करनी चाहिए जाना चाहिए तो कई लोग कहते कि बस आज काम की बात शेष जी ने बताई इसका पालन जरूर करना चाहिए है? ऐसा किसी दिन व्याख्यान कोई तो मनुष्य को संध्यावंदन बलि वैश्व अवश्य करना चाहिए बोले हाँ आज करने की बात बताई इसी दिन बताते कि भगवान का ध्यान सवा हाथ आगे सवा हाथ ऊपर संकट गदाधारी भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए और अपने हृदय में नारायण का ध्यान कैसे करना चाहिए बोले बस बस आज तो भक्ति का रहस्य हो गया है? और बोले किसी दिन शेष ही बताते हैं तो कौन वो जाति वाले और सोच शंका वाले सत्संगी खुश होने वाले दूसरे होते हो है ना और संख्या बंधन गली वैष्णव वाले दूसरे होते भगवान के ध्यान वाले दूसरे होते है ना और किसी दिन दृष्टा साक्षी का ध्यान करवाते ध्यान करवाते दृष्टा का और लोग ऐसे खुश होते थे हम कहते थे अरे भाई दृष्टा का ध्यान तो कैसे होगा है ना जिस जो ध्यान का विषय होगा वो तो दृष्टा नहीं होगा कैसे होगा तो बिल्कुल महाराज शांति शांति शांति शांति का शांति को देख हैं तो वो धीरे तो शांति हुई है उसके तुम दृष्टा हुए बोले मैं दृष्टा हूँ ऐसा सोचते हैं तो भी वृत्ति हुई तो हमारा बहुत खुश होते और किसी दिन वो बताते कि ये दृष्टा हमारा ये तो ब्रह्म ही है ब्रह्म की न जगत है न जीव है न ईश्वर है एक ब्रह्म ही जगत जीव ईश्वर सब है तो कुछ लोग एक दो चार ऐसे होते जो कहते वाह वाह आज तो बिल्कुल सस्ती बात कह तो कौन कौन कैसे खुश होता है ये आपको सुनाते जिसको यही सहूल नहीं है कि कहाँ लघुशंका सहूल करना चाहिए उसको जब ये अज्ञात ज्ञापन होगा उसके लिए जो अनजानी चीज थी वो उसके सामने आती तो बहुत खुश होता जो संध्या सुंदर बलि बलि सुबह नहीं करता है वो कर्म सुनने से उसको खुशी होती तो वेदांत शास्त्र जो है वो ये बताने के लिए नहीं है ये तो अधर्म शास्त्र से प्राप्त है कि नदी के तट पर गंगा नहीं करना चाहिए वहां को दूर से उत्तर कर जाना चाहिए धर्मशास्त्र से ये ज्ञात है कि मनुष्य को यज्ञों को भी भारी को संध्यावंदन हरि वैश्वर करना चाहिए वो ठीक है भैया उसमें कोई जल्दी गलती नहीं है अच्छा नारायण भक्ति शास्त्र से हाँ, पुराण से ये बात प्राप्त है कि भगवान का के सबों साकार रूप का ध्यान करना चाहिए शांत शास्त्र से योग शास्त्र से ये प्राप्त है कि आत्मा दृष्टा है अगर इन्हीं शास्त्रों से प्राप्त बात को वेदांत भी बताता है तो उसमें कोई अपूर्वता नहीं होगी जो चीज आंख से नहीं मालूम करती उसकी नाक बताती है और जो नाक से नहीं मालूम करती उसको आंख बताती है जो उन इंद्रियों से जो चीज नहीं मालूम पड़ती या अन्य शास्त्रों से नहीं मालूम पड़ती उस बात को बताने के लिए वेदांत है शास्त्र में प्रमाण को प्रमाण कब मानते हैं कि तो जब वो अज्ञात ज्ञापक हो गए अज्ञात ज्ञापक हो गए माने जो चीज किसी भी दूसरी तरह से मालूम न पड़े और उस वस्तु के बारे में वो ऐसी चीज हो गए ऐसा करण हो गए ऐसा औजार हो गए ऐसी वृत्ति हो गए ऐसी स्थिति हो गए कि उस वस्तु को लखा दे तो आत्मा की जो एकता है वो वेदांत के अतिरिक्त और किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है मालूम नहीं है इसलिए अज्ञात व्यापक होने के कारण अज्ञात माने जो चीज दूसरी तरह से नहीं मालूम करती उसको मालूम कराने के कारण वेदांत का प्रमाण है प्रमाण होता ही वही है आप प्रमाण है क्यों ऐसी चीज बताती है जो जीव और नाक को नहीं मालूम करते हाँ। बात है क्यों कि जो जीव से और आग से चीज नहीं मालूम पड़ती वो नाश बता देती है गंध के बारे में नाश प्रमाण है कि है कि नहीं है रूप के बारे में आप प्रमाण है कि है कि नहीं है क्योंकि दूसरे प्रमाण से ये बात नहीं मालूम कर सकती इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म की एकता जो है हाँ। वो मनोविज्ञान का विषय नहीं है बोला मनोविज्ञान दूसरा है विज्ञान शास्त्र दूसरा है एक से अनेक कैसे बनता है इस बात को समझाने वाले शास्त्र को विज्ञान शास्त्र बोलते हैं एक से अनेक कैसे बनता है और अनेक में एक कैसे है इसको समझाने वाले को ज्ञान शास्त्र बोलते हैं बोला अनेक में एक को समझाना ज्ञान शास्त्र का काम है और एक में अनेक को समझाना विज्ञान शास्त्र का काम है लेकिन वेदांत इन दोनों से विलक्षण अच्छा है ये एक के रूप में कारण भाष रहा है या ईश्वर भाष रहा है या प्रकृति भाष रहा है और जो अनेक के रूप में कार्य जगत भाग रहा है, है? ये दोनों अपनी आत्मा से अतिरिक्त नहीं है अर्थात कार्य का अधिष्ठान और प्रकाशक और आदि अधिष्ठान और प्रकाशक और जिसमें कार्य और कारण की तत्व ही नहीं है ना ऐसी आत्मा की अद्वितीयता को प्रकट करने वाला वेदांत शास्त्र है इसको ये भिड़ा देना कि विज्ञान से आत्मा का ये तत्व सिद्ध होता है कि है ना कि मान मनोविज्ञान से सिद्ध होता है कि योग सांख्य से सिद्ध होता है वो वेदांत शास्त्र है ना वेदांत शास्त्र का रहस्य न जानने के कारण है बोला अब ये बात जरूर है कि वेदांत शास्त्र को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में युक्ति के रूप में यदि भौतिक शास्त्र का भी प्रयोग किया जाए विज्ञान शास्त्र का भी प्रयोग किया जाए या समाधि का भी प्रयोग किया जाए भागवत में सबका प्रयोग है भागवत ने एक वीडियो बताया है कि जब मन फिरता है तब नाना को देखता है तुमसे नाना को अयुक्त हिंसा नामार्थ भवती जिसका मन एकाग्र नहीं है उसको नामार्थ का दर्शन होता है तो गुरु मन की चंचलता में अनेकता दिखती है और मन की शांति में अनेकता नहीं दिखती इसलिए जितनी भी अनेकता दिखती है वो मन की खुराफात है खुराफात है पूर्णा करना एक ही बात है लेकिन आत्मा के सिवाय जीव ईश्वर जगत नाम की त्रिपुटी नहीं है त्रैत नहीं है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वय आत्मी परम सत्य है मैं ही परम सत्य हूँ परम सत्य परम ब्रह्म परिपूर्ण हाँ, अविनाशी अद्वितीय ये बात वेदांत के सिवाय कहो किसी और प्रकार से मालूम पड़े मन की फुरना को समझने का नाम वेदांत नहीं है वो चाहे जागृत रूप में पूरे चाहे सपने रूप में पूरे चाहे सुशुक्ति रूप में पूरे चाहे समाधि रूप में पूरे और चाहे मूर्छा के रूप में पूरे आदिभाव मूर्छा माने आदिभाव सुसुप्ति गाड़ी होती है तो मूर्छा गाड़ी होती है मूर्छा गाड़ी होती है सुसुप्ति से ज्यादा और सुसुप्ति में शरीर पर हाथ फिराओ तो आदमी जल जाएगा और मूर्छा में हथौड़ा मार दो तब भी नहीं जाएगा है? हाँ? तो मृत्यु मूर्छा सुसुप्ति और इन तीनों के विलक्षण अभ्यास समाधि ये चार भेद इसके हो मृत्यु मूर्छा सुसुप्ति और अभ्यास समाधि और स्वप्न की फुरनाएं सारी और जागृत की फुरनाएं सारी तो इनका यदि समूचे का विज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या तुमको अपनी अद्वितीयता का विज्ञान प्राप्त हो जाएगा प्रश्न तो ये है तो अच्छा बुद्धि से द्वितीयता तो अपनी मालूम करेगी वो तो बुद्धि जानने वाली और जाना जाने वाला और बुद्धि और बुद्धि के दो दिए दोनों को जानने वाला अपना आता बुद्धार आत्मान मजान तो जो बोधा सकिन स्यात परमार्थ बोधा जानने वाले अपने आत्मा की अद्वितीयता को न जान करके जितने भी बोध होते हैं वे क्या परमार्थ बोध है बोध्य बोधस्य विजान स्वम बीजानक तद्वितयम विनश्य जो कुछ जाना जाता है बोध है और जो उस बोध को पृथक पृथक जानने वाली व्यावहारिक वृत्ति है प्रातिभाषिक वृत्ति है और इसके एकत्व को जानने वाली समाधि वृत्ति है तो जब अपने स्वरूप को यथार्थ रूप में जान लेते हैं उल्टा जलाना है देखो तो स्वार्थी सामने की वस्तु को देखता है आप ये ये अलगाव देखो साक्षी सामने की वस्तु को जानता है जो देश काल या वस्तु के रूप में फुरफुरा रही है जो चीज उसको साक्षी जानता है बुद्धि में जो विषयाकारता होती है बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है विषय का इंद्रिय द्वार से उसको जानती है या जिसका संस्कार है उसको जानती है इंद्रियां उसको जानती हैं जिनका प्रतिबिंब सीधे पड़ता है इंद्रियां उनको जानती हैं जिनका प्रतिबिंब सीधे पड़ता है बुद्धि उसको जानती है जिसका प्रतिबिंब पड़े अथवा जिसका संस्कार हो आप को जानते हैं और साक्षी जो है वो अपने सामने के सब पदार्थों को जानता है विशेष को भी जानता है सामान्य को भी जानता है वेद को भी जानता है अवेद को भी जानता है भाव को भी जानता है अभाव को भी जानता है लेकिन साक्षीगत जो अद्वितीयता है वो तो साक्षी भाष्य भी नहीं है बोले हम अपनी द्वितीयता को जानते हैं कि किस कर्म से जानते हैं अगर बोले एक ने कहा कि हमने तो एक विलायत की पोथी में पढ़ा है कि आत्मा ब्रह्म है एक विलायत के वैज्ञानिक ने लिखा आप शुद्ध हो गया क्योंकि अंग्रेज के मुंह से बात निकलती है तो जरा उसमें सच्चाई ज्यादा मालूम पड़ती है अंग्रेजी बाबुओं को तो, तो बात जब लौट के आती है ना तो बोले कि वो जो वैज्ञानिक ने लिखा हो ना उसके साथ हमारा तत्वसी अहम हम ब्रह्मास्मी कहीं से घूम करके पहुंच गया है बोला क्योंकि संसार के पुस्तकालय में है, सबसे पुरानी किताब तो है ऋग्वेद तो, तो उसने अंग्रेजी में लिखा तो क्या हुआ रशियन में लिखा तो क्या हुआ चीनी में लिखा तो क्या हुआ प्रश्न तो ये है कि वो ये कहता है कि नहीं कि आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित स्वयं प्रकाश सर्वाभाषा है सर्वातीत और सर्वस्वरूप है तो ये बात वो बोलता है कि नहीं यदि बोलता है तो वेदांत बोलता है ठीक है इसका नाम वेदांत है और यदि वो तुमको किसी से अलग करता हो तुमको परिच्छिन्न करता हो ना तुमको जगमग जगमग करने वाला दुगनू बना देता हो या कोई आग की चिंगारी बना देता हो तो वो वेदांत नहीं है ना <clears throat> तो इस बात को दृष्टांत दे करके लौकिक दृष्टांत दे करके समझाते हैं ये लौकिक दृष्टांत केवल समझाने के काम आता है ये युक्ति और दृष्टांत क्योंकि अपने बारे में युक्ति की जरूरत नहीं होती युक्ति से आत्मा सिद्ध नहीं होती मैं देखो तो एक जुक्ति देता हूँ मैं हूँ क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो आप इस युक्ति को क्या बोलते हैं इसका नाम युक्त्याभास है क्योंकि मेरा अस्तित्व मेरे लिए सिद्ध हो इसमें तुम्हारी आंख प्रमाण थोड़ी होगी प्रमाण तो जो हमसे संलग्न होगा वो होगा ना अरे तुम दे रहे हो ये कौन जानता है तो मैं जानता हूँ तो तुम्हारा अस्तित्व तो मैं जानता हूँ मेरे अस्तित्व की सिद्धि में तुम प्रमाण नहीं हो सकते तुम्हारे अस्तित्व की सिद्धि में मैं प्रमाण हे भगवान तो आज मेरे जसई को भुवनम प्रविष्ट जैसे अग्नि एक है और वो सारे भोजन में प्रविष्ट है घुसा हुआ है प्रविष्ट माने घुसा हुआ विस्मृति व्याप्त विष्णु प्रविष्ट माने प्रविष्णु है प्रतिष्ठ विष्णु है विष्णु तो साकारवादी इस अग्नि को दो तरह से मानते हैं एक कहते हैं कि एक तो वो अग्नि जो लकड़ी में पहले से मौजूद है और ये वो अग्नि जो दिया सलाई लगाने के बाद आग में जलती है तो गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया कि साकार और निराकार कैसा गोस्वामी देगा तो एक दारुक देखिए एकू कायक युग सम ब्रह्म भी देखू एक लकड़ी में एक अग्नि तो निराकार रूप से लकड़ी के अस्तित्व को ही सिद्ध कर रही है और एक अग्नि वो हुई जो लकड़ी को जला रही है दिया कड़ाई लगाने पर प्रकट हुई और लकड़ी को जला रही है तो पावक सब जैसे एक लकड़ी में दो अग्नि है इसी प्रकार एक ब्रह्म निराकार है और एक ब्रह्म साकार है तो अब गोस्वामी जी की बात को छोड़ देते हैं बोला वो तो दृष्टांत है अपना स्वरूप तो हेतु दृष्टांत वर्जित है ये दूसरे की नकल नहीं है आत्मा जो है ये दूसरे की नकल नहीं है इसलिए इसका कोई दृष्टांत नहीं है, है? और अपनी सत्ता की सिद्धि के लिए किसी दूरबीन खुरबीन या जुटी या तर्क या विपर्क की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए ये हेतु वर्जित है तो दृष्टांत वर्जिता ब्रह्म का धर्म मात्र अच्छा तो हम लोग भी ब्रह्म को दो तरह का नाम करते हैं एक वो ब्रह्म जो अविद्या का प्रकाशक है अविद्या है ये बात भी जानता है और अविद्या मिट गई ये बात भी जानता है है ना सुसुप्ति आई और सुसुप्ति मिट गई उसको जानता है और एक ब्रह्म वो है जो विद्यारूढ़ होकर के अविद्या को नष्ट करता है तो वृत्ति में ब्रह्म का आधान कौन करता है प्रश्न ये है नहीं बोला इस बात को आप भूल मत जाना इसको जरूर नोट कर लो क्योंकि जो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है वो तो वृत्ति को वृत्ति के अभाव को और ये वृत्तियां सत्य हैं इस भ्रांति को प्रकाशित करता रहता है विषय को वृत्तियों को वृत्तियों की शांति को वृत्तियों के विक्षेप को और वृत्तियों में सत्यत्व भ्रांति को और वृत्तियों में मिथ्यात्व बुद्धि को वो तो प्रकाशित करता रहता है जो का क्यों लेकिन दिया सलाई तो लगी नहीं लकड़ी जो की क्यों तो ये महाबाप के जो है वो जैसे दिया सलाई में आग दिखती नहीं है ना और रगड़ के जला दिया हो लकड़ी को वैसे तो ये महाबाप के जो है वो वृत्ति में ब्रह्म ऐसा ब्रह्म ऐसा ब्रह्म ऐसा और ब्रह्म तो वृत्ति में ये बात ये जलती हुई आग जो है ना वो पड़ती है तो दिया तलाई की बत्ती का नाम है वृत्ति है ना जो तुम्हारे अंतकरण में वृत्ति रूप व्यक्ति है व्यक्ति मंगल की दृष्टि से चंदा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोहमत सोहमत में की दृष्टि अखंडा तो ये एक प्रचंड ज्ञान आदमी है उन्होंने कहा ये प्रचंड ज्ञान आदमी है तो ये जब आग जलती है तो जो स्वयं प्रकाश अग्नि निराकार अग्नि का नाश नहीं होता वो तो जीव का क्यों रहता है और ये अग्नि प्रज्वलित होकर के अविद्या का अविद्या का नाश कर देते हैं तो एक अविद्या प्रकाशक ब्रह्म और एक अविद्या दाहक ब्रह्म एक प्रकाशक और एक दाहक तो ये अविद्या दाहक ब्रह्म जो है वो तो सप्तमस्यादी महावाक्य के द्वारा विद्यारूढ़ होता है विद्यारूप होकर के अविद्या को निवृत्त करता है अविद्या को निवृत्त करना मान रही है कि कुछ खा हटा दिया अरे अविद्या की ही नहीं ये बोध हो गया हो है ना अविद्या का भी बाधन ही होता है निवृत्ति नहीं होती और फिर वो वृत्ति स्वयं अविद्या जब निवृत्त हुई तो वृत्ति निवृत्त हो गई अगर वृत्ति बाधित हो गई तो उसमें जो बैठा हुआ ब्रह्म था ना वो वृत्ति ज्ञान जिसको बोलते हैं तो वो भी भस्म हो गया वो भी नष्ट हो गया आग भी बुझ गई वो साकार आग भी बुझ गई साकार ज्ञान आग्नि वृत्ति में प्रज्वलित हुई लकड़ी में लगी और वृत्ति भी भस्म हुई और साकार ज्ञान आग्नि बुझ गई भस्म हो गई बाधित हो गई वो वृत्ति ज्ञान भी नष्ट हो गया वृत्ति ज्ञान उदय समकाल अविद्या अंधकार का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो गया और जो स्वयं प्रकाश है तुम नहीं मिलते तुम तो जो अविद्या को प्रकाश रहे थे तो सो जिसने अविद्या को नष्ट किया सो नहीं हो वो तो जन्य है जन्य ज्ञान है ये तो बाप के जन्म ज्ञान है जिसने अभिज्ञा को नष्ट किया और नष्ट हुआ जन्म जो होता है वो नष्ट होता है जो पैदा होता है वो मिटता है तो ये नकली अभिज्ञा को मिटाने के लिए असल में असली ज्ञान की जरूरत नहीं है नकली अभिज्ञा को मिटाने के लिए नकली ज्ञान की जरूरत है और वो नकली ज्ञान और वाक्य के सिवाय और किसी प्रमाण से पैदा नहीं हो सकता तब वेदांत विद्या की वेदांत विद्या की जरूरत है ये अग्नि का दृष्टांत आया हुआ है इसलिए ये बात सुनाए अग्निर जखई को अग्नि एक है इसको समझाने का तरीका की टीका शंकरानंदी पढ़ने का अवकाश मिले तो उसमें जो है प्रभाषणी शशि सूर्यो रसोहमस्तु कौंतेय प्रभाषणी शशि सूर्यो इन श्लोकों की व्याख्या सातवें अध्याय में कभी पढ़े शंकरानंदी में तो असल में जल और पृथ्वी ये दो चीज जो दिखाई पड़ती हैं ये अग्नि से ओतप्रोत है बिना पानी बिना गर्मी के द्रवता जो जल है द्रवित जो पदार्थ है वो बिना गर्मी के नहीं पी सकता बोला जितनी गर्मी कम होती जाएगी उतना द्रव द्रव पदार्थ जो है वो जमता जाता है मैंने पहाड़ में आप देखें तो जहां गर्मी कम है वहां पानी जमा हुआ बर्फ होता है और जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां द्रवता आ जाएगी लोहा भी जल जाता है सोना भी जल जाता है है ना तो ये जो द्रवता है, है? ये अग्नि का कार्य है अच्छा और अग्नि की ही न्यूनता से देवता जो है वो जम जाती है आपको ये तो आप जानते ही हैं कि ये पृथ्वी भी कभी सूर्य थी और धीरे धीरे अलग होते होते ठंडी होते होते नारायण पृथ्वी के रूप में रहने योग्य बन गई है तो ये जल और पृथ्वी दोनों अग्नि में उत्पन्न है बोला अग्नि में स्थित है और अंतिम इनकी गति क्या है तो अग्नि में लीन होते हैं बोला आग लगेगी तो सब जल जाएगा पहले अग्नि में अग्नि में सब भस्म हो जाएंगे मिट्टी भी आग में जल जाती है चांदी भी आग में जल जाती है तो आपको मालूम ही है तांबा भी आग में जल जाता है पीतल भी आग में जल जाती है इसीलिए इनको पार्थिव बोलते हैं चांदी को मिट्टी की धातु बोला जाता है वो संस्कृत तो में और सोने को तेज की धातु माना जाता है क्योंकि सोना आग में नहीं जलता और चांदी जो है वो आग में जल जाती है तो चांदी जो है वो पार्थिव धातु है मिट्टी की है तो अग्नि में जल और पृथ्वी पैदा होते हैं गर्मी से ही इनकी स्थिति रहती है ये जो आकाश में धरती घूम रही है या समुद्र जल हो रहा है पिघला हुआ है या गंगा बह रही है उष्णता में ही इनकी स्थिति है और अंत में आग लगती है तब ये भस्म हो जाते हैं आपको ये भी मालूम है कि समुद्र में भी आग लगती है पानी में भी आग लगती है वो तो अब बात क्या हुई असल में अग्नि ही देश काल परिस्थिति की उपाधि से जल और पृथ्वी बनी हुई है और लकड़ी में भी आग है पत्थर में भी आग पत्थर रगड़ देते हैं जोर से तो आग पैदा हो जाती है पत्थर की आग आप लोगों ने देखी होगी है ना और चकमक पत्थर से अरे ऐसे ही गाँव में लोग एक एक पत्थर का टुकड़ा दूसरे पत्थर पर जोर से पटकते हैं और चिंगारियां उसमें से निकलते हैं और ये जो कभी जगह देखने गए होंगे तो दो लकड़ी रगड़ने से आग पैदा करके देखा होगा ना हाँ। ये लकड़ी लकड़ी की रगड़ से आग पैदा होती है तो लकड़ी में रहती है सब पैदा होती है ये दो दवा आज आजकल भी बाजार में बिल्कुल सामान्य रूप से बिकती है है ना उन दोनों को एक में मिला दो तुरंत जल जाएगी सामान्य रूप से आग लग जाएगी हो पहले जब लेकर बक्स बनाते थे सन बयालीस में उस समय हमको मालूम पड़े थे है ना तो लिफाफे <laughs> को तो डाल के एक कोने पर उसको डाला एक कोने पर उसको बीच में भी डाल दी है ना और हमारा है ना लेकर बक्स में ले जाके डाल दिया <laughs> थोड़ी देर के बाद कोई लिफाफा ही जल जाता था और लेकर बस बस हो जाता था तो उस समय ये मालूम पड़ी थी हमको तो ये कहने का आदि तो जीरे में भी आग है सूखे में भी आग है तो अग्नि में उत्पन्न है जलीय और पार्थिव सब पदार्थ अग्नि से स्थित है अग्नि में लीन होते हैं इसलिए अग्नि तन्मात्र ही है ये पदार्थ तो अग्नि यथा जतई अग्नि यथई को भुवनम प्रविष्ट भुवनम प्रविष्ट देखो संस्कृत के शब्द का चमत्कार देखो वनम है इसमें भी भुवनम प्रविष्ट भुवम प्रविष्ट है वनम से प्रविष्ट है पृथ्वी में भी है और जल में भी है अच्छा और वन शब्द का संस्कृत में पानी भी होता है बोला वनज कमल का एक नाम है वनज वन मन पानी वन माने जंगल भुवनम भी कहाँ है तो पानी में है धरती में है जंगल में है पत्थर में है सब जगह भरा हुआ है ये अग्नि रूपम रूपम प्रतिरूप रूप जितने रूप हैं वही गोल लकड़ी में आग जले तो गोल गोल हमारे तो अंगारे उपलों के उपलों के अंगारे कोयलों के अंगारे गांव में थे तब तो उपले देते थे भाई बोला उपलों के अंगारे देते थे और लकड़ी के भी अंगारे देते थे शहर में आए तो कोयले का देखा है ना सुनार के घर में गए तो वो पता लुहार के घर में गए तो वो पता पता लोहे का गोला देखा वे बोला तो अब लोहे का गोला गोल तो आग गोल और लंबा तो लंबी जितने रूप हैं एक एक रूप में एक एक रूप में प्रतिभूत हो करके जैसा उस पदार्थ का रूप है वैसा बन करके अग्नि स्थित है तो आदमी का वो रूप हो गया है तो हुआ नहीं है बात सही है बोला ये नहीं समझना कि कोई परिणाम हो गया है कि कोई आरंभ हो गया है न वहां अग्नि बना है न तो अग्नि बदला है अग्नि जो का क्यों है इस जगह हाथ बुझ जाने से सब जगह नहीं बुझ जाते इसलिए इसके मरने से सब नहीं मर जाते हैं एक जगह आग पैदा करने से सब जगह आग पैदा नहीं हो जाती इसलिए एक के जन्म से सब नहीं मरते एक आग से मुर्गा जलाओ एक आग से रसोई बनाओ वृत्ति सबकी अलग अलग है अग्नि का व्यवहार कारखाने में दूसरी तरह से है रसोई घर में दूसरी तरह से है लाल लालटेन में दूसरी तरह से है, है? और आग तापने के लिए दूसरी तरह से है लेकिन आज आ रही है उपाधि के भेद से अथवा व्यवहार के भेद से है ना एक जगह जगह आग जला के और रात में मकान बना रहे और एक ने आग जला के दूसरे के मकान में डाल दिया और वो भस्म हो गया तो अग्नि का व्यवहार तो आग मकान जलाने में भी हुआ और मकान समय में भी हुआ लेकिन आज जो तो ये सब तत्वों की स्थिति अंततोगत्वा ऐसी है ये पृथ्वी का दृष्टांत तो उपनिषदों में मिट्टी का तो आता ही है बहुत प्रसिद्ध है जल का भी दृष्टांत है हो इसी उपनिषद में शुद्ध शुद्ध मासिकम जैसे शुद्धों के शुद्ध मासिकम शुद्ध जल में जैसे शुद्ध जल जल डाल दो तो जल का भी दृष्टान्त है ये अग्नि का दृष्टान्त है वायु का दृष्टान्त अगले मंत्र में है और आकाश का दृष्टान्त तो संपूर्ण उपनिषद में प्रसिद्ध है ही है कहने का अभिप्राय यह है कि तत्व जो है ना तत्व उसको कहते हैं कि जो कार्य की उत्पत्ति और कार्य का विनाश होने पर भी अपने स्वरूप का परित्याग न करे है ना तत्व तत्व की परिभाषा आपको जान लो ना कार्य की उत्पत्ति और कार्य का विनाश होने पर भी जो अपने स्वरूप का परित्याग न करे घड़ा बने तो और फूट जाए तो मिट्टी मिट्टी रहे है ना तो आकार के आरोप का जो अधिष्ठान होता है और आकार के अपवाद का भी जो अधिष्ठान होता है आकार के अध्यारोप और अपवाद का जो अधिष्ठान होता है उसको हमारी भाषा में तत्व बोलते हैं तत्व अच्छा आप ये नहीं समझना कि मिट्टी में घड़ा बना है मिट्टी में घड़े की आकृति कल्पित हुई है हो क्योंकि आकृति का कोई वजन शकल सूरत का कोई वजन तो होता नहीं और मिट्टी को कोई अवस्थान पर प्राप्त हुआ नहीं है एक शकल दिखाई पड़ रही है मिट्टी में तो असल में घड़े की शकल का मिट्टी में अध्यारोप हुआ और अपवाद हुआ अपवाद माने छोड़ना नहीं घड़े को है ना बच्चे को ये समझा देना कि घड़े की शकल जानने पर भी तुम देखने में मिट्टी है कि नहीं अच्छा एक एक के घर में कोई जेवर देखने के लिए ले आया तो ये हार की शक्ल है ये कंगन की शक्ल है हाँ। अब बाप ने बेटे को बताया कि तुम देख लो भाई ठीक है ना बोले ठीक क्या है ये हार है ये कंगन है हम पहचानते हैं ठीक है बोले ना ना हम ये पहचानने को कहते हैं कि ये सोना असली है कि नहीं तो बेटे ने कहा कि पिताजी ये तो आपने ऐसी आज्ञा दी है और सब तोड़ना पड़े सब जलाना पड़े सब कुछ बनाना पड़े तब तो न पहचान में आवे बाप बोला ना बेटा है ना सोना पहचानने के लिए इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है कसौटी पर कसने की जरूरत है कसौटी पर कस लो तो सब सोना है और यह नकली है तो नकली असली है तो असली तो बोलेंगे भाई ये मिथ्या स्वर्ण है यदि पीतल को या तांबे को कोई सोना के रूप में बनावे बतावे तो बोले नहीं नहीं ये स्वर्ण नहीं नकली है नकली सोना है कि असली सोना है तो भी बढ़ता कर देख लो तो ये जो सृष्टि बनी हुई है ना बाबा ये देख लो इसको खोलो मत इसको अवस्था में मत ले जाओ इसको लीन मत करो इसमें समाधि लगाने की जरूरत नहीं है इन मनोवृत्तियों को ध्यान की गुफा में कैद करने की भी जरूरत नहीं है पर एक बार जांच कर लो कि इनकी मूल धातु क्या है असली धातु क्या है यही तत्व ज्ञान की कसौटी पर ये संपूर्ण विश्व सृष्टि के आकार का जो होता है और इसका जो अपवाद है अपवाद माने तोड़ना तोड़ना नहीं है है ना आकार से एक बार अपनी बुद्धि से हटाकर और देखो कि वो असली धातु क्या है वो सन्मात्र है कि नहीं वो चिन्मात्र है कि नहीं अपवाद मारे वस्तु को खोलना नहीं इसीलिए वेदांत दर्शन में शांत को उपयोगी मान करके भी उसका खंडन किया जाता है क्योंकि उसने दृष्टा आत्मा का तो प्रतिपादन किया परंतु प्रकृति को सत्य बता दिया और इसीलिए योग दर्शन का खंडन किया जाता है वेदांत दर्शन में क्यों वो बात समझ लेती है कि वो आत्मा को तो दृष्टा बताया लेकिन वृत्ति के निरोध की आवश्यकता बता दी तो एक तो योगा प्रत्युक्त कहा वेदांत दर्शन में योग प्रत्युक्ति अधिकरण है योग की प्रत्युक्ति योग को जवाब नमस्कार प्रत्युक्ति का अर्थ है प्रतिवचन हम लोग ये झंडा लेते हो पिछले जमाने में वो बैठ साइमन बोलते थे तो साइमन <laughs> कमीशन आया था साइमन कमीशन वो काला गंगा लेके काला गंगा लेके चिल्लाते थे तो योगा प्रत्युत कहा वेदांत दर्शन ने कहा कि अरे एक एक तू लौट जा बात जा जहाँ वहां जा तो क्यों तू आत्मा के ज्ञान के लिए वृत्ति के निरोध की जरूरत मानता है ना लौट जा हमारे वेदांत में तेरा प्रवेश नहीं है प्रशांत उपाधियों से कहा कि तूने आत्मा को दृष्टा बताया बहुत बढ़िया परंतु जो प्रकृति के सत्य बताता है ये अद्वितीयता के विरुद्ध है आत्मा के और यदि आत्मा अद्वितीय नहीं है तो कभी प्रकृति पर चढ़ के बैठे भैया कभी जाके एक्सीडेंट करे प्रकृति पर चढ़ेगा तो एक्सीडेंट करेगा प्रकृति क्यों नहीं करे बोला इस पर जाके पाप क्यों करेगा एक्सीडेंट करेगा तो चलो लोग भी रहे जहाँ का कहा अपनी जगह पर प्रकृति भी रहे अपनी जगह पर लेकिन इसमें जो मूल धातु है मूल धातु है वो आत्मा है है ना आत्मा ही ब्रह्म है अद्वितीय है अनंत है परिपूर्ण है और ये प्रकृति और निरोग है ये सब नकली धातु है है ना इनका नाम नकली है असली नहीं एक तथा सर्वभूतांतरात्मा चाहे स्त्री दिखे चाहे पुरुष बोला औरत हो चाहे मर्द पशु हो चाहे मनुष्य देवता हो चाहे दानव हमारे पास एक नेता है हाल में आठ पंद्रह दिन के बाद बोले कि आप एक वक्तव्य दे दो तो कहे का वक्तव्य कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसको वोट देना चाहिए हमारा तो वोट नहीं है भाई कि आपका वोट नहीं है तो क्या हुआ इसका जनता पर प्रभाव पड़ेगा तो भाई उसमें वोट तो विधानसभाइयों का है लोकसभाइयों का है राज्यसभा का है जो निर्वाचित लोग हैं वे राज्यसभा का है जो निर्वाचित लोग हैं वे निर्वाचन करते हैं हमारा तो वोट नहीं है तो लोग जो है ना उनकी स्थिति गति जो है वो लोक की बड़ी रक्षा है पिछले आक्रमण के समय में एक नेता बोले कि आप वक्तव्य दे दो क्या वह नेहरू जी को पार करो चीन का आक्रमण हुआ था जब कि देश को अमुक पक्ष में तुरंत मिल जाना चाहिए मैंने कहा भाई राजनीति तो हमसे ज्यादा नेहरू जी जानते हैं उनको हम क्या सलाह दें है? हमसे तो वेदांत की बात पूछो तो बताएंगे हमारे स्त्री पुरुष का भेद नहीं है हमारे दानव देवता का भेद नहीं है हमारे मनुष्य पशु का भेद नहीं है जितना प्रतीत हो रहा है इसको अगर संसार कहना चाहो तो ठीक है इसके जो है ना इसके जो अलावा है तो वो मालूम ही नहीं है है कि नहीं है कुछ पता नहीं है उसका हे भगवान आप बताओ आत्मा सर्वभूतांतरात्मा देखो राजनीति कैसे बदलती है उसका भी उदाहरण आपको कहो तो बता दें आज बिहार में सूखा पड़ा है सबके हृदय में सहानुभूति है वहाँ के गरीबों के प्रति भूखों के प्रति सचमुच है ना अन्न नहीं है पानी नहीं है चारा नहीं है दाना नहीं है हमारे पास स्थिति आती है कि पशु के लिए चारा नहीं है और खाने के लिए दाना नहीं है ऐसे आप बड़ी सहानुभूति हृदय में उठती है जब सुनते हैं तो देखते हैं अच्छा आज बिहार अपने को यदि भारतवर्ष में स्वतंत्र घोषित कर दे कि हम देश के अंग नहीं हैं हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं तो क्या होगा आप जानते हैं सेना भेजी जाएगी वहां लोगों को मारने के लिए सेना भेजी जाएगी राजनीति की स्थिति बड़ी विलक्षण है और उसके चक्कर में जो पड़ा वो कभी वहां से निकल नहीं सकता तो अपने आत्मा को जानने का मार्ग दूसरा है आत्मा हमारे मुगलपुर के बाबा से किसी ने पूछा कि तुम कौन हो बोले मैं मच्छर हूँ मैं चीटी हूँ मैं चिड़िया हूँ अमेरिकन में हूँ रशियन में हूँ बोला चीनी में हूँ पाकिस्तान में हूँ वहाँ की मुट्ठी भर नेताओं की दुर्बुद्धि के कारण संपूर्ण देश की जनता के साथ द्वेष जोड़ लेना जैसे ये अपने हृदय के द्वेष की प्रधानता है क्यों अपने दिल में आग जलाते हो अभी वहां की राजनीति बदल जाए नेता बदल जाए है ना तो फिर भाई भाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे वहां के नेता बदल जाए और राजनीति बदल जाए तो आदमी तो यही रहेंगे भाई भाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे अरे भाई हमारा ये जो प्रेमास्पद आत्मा है ना वही सर्वत्र भरपूर है वो तो जो छोटी चीज पर नजर जाती है जो दो बरस के लिए है जो चार बरस के लिए है है ना जो घंटे दो घंटे के लिए है उसके ऊपर नजर जाती है तब हमारा द्वेष होता है सर्व देश में सर्व काल में सर्व वस्तु में सर्व देश में सर्व जाति में एक आत्मा भरपूर है सर्वभूतांतरात्मा वो मैं हूँ जो सबके दिल में मैं मैं मैं जो फुदक रहा है जगन्नाथपुरी में एक चूल्हे में हो एक चूल्हे पर पांच छह छिद्र होते हैं एक चूल्हे में और पांच छह हाड़ी में चावल भर के उस पर बैठा देते हैं और जब पकने लगता है ना तो सब फुदकते हैं फुदर फुदर फुदर फुदर और हाड़ी के ऊपर हाड़ी ऐसे रखते हैं हाड़ी अलग अलग हैं चूल्हे के छेद अलग अलग हैं लेकिन आग तो एक ही है ना वो फुदकने वाला वो फुदकने वाली जो चीज है ना सब के भीतर फुदक रही है आम आम हिंदू मुसलमान पारसी सिख जैन ईसाई यहूद सब के सीने में धड़कता एकता है दिल मेरा मैं मैं मैं आह महा मेरी साक्षा ब्रह्म रूपेण ब्रह्म रूपेण भाभी ये ब्रह्म है ये मैं मैं जो खुदक रहा है ये ब्रह्म जाति नहीं है इसकी जाति का नाम माने मनुष्य अलग अलग है और इसकी जाति एक है ऐसे सबके हृदय में अहम अलग अलग खुदकता है और इसकी जाति एक है सो नहीं एक चीज एक वस्तु एक तत्व है रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठ वही रूप रूप है वही प्रत्येक रूप है और रूप से बाहर जैसे आकाश शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है और परिच्छिता से परिच्छिन्न नहीं हुआ है इसी प्रकार असंग अलेप परिपूर्ण अविनाशी अद्वितीय अपनी अंतरात्मा मैं केवल मैं सर्वत्र परिपूर्ण है मैं जाति रूप से मैं एक नहीं है जैसे मनुष्य जो है ना मानवता जिसको बोलते हैं वो जाति रूप से एक है वो मानवता जाति रूप से एक है घड़े जो हैं वो घटक के रूप जाति उनमें एक है गाय जो है गोप के रूप जाति उनमें एक है पर आत्मा का जो एकत्व तो है वो जाति रूप एकत्व तो नहीं है तत्वरूप एकत्व तो है क्योंकि इसके बाहर भी और भीतर भी परिपूर्ण है ओम शांति शांति